निहितम् गुहा सद्यत्र विश्वम् तस्मिन्निदम् सर्वम् सहोदा क्रोधश्च विभो प्रजासु विद्वान ही जिसको बुद्धि बल से जानता जो सब आकाश आदि पदार्थों का आधार प्रलय समय सब जगत जिसमें लीन होता और उत्पत्ति समय में जिससे निकलता है और जिस व्याप्त ईश्वर के बिना कुछ भी वस्तु खाली नहीं है उसको छोड़ किसी अन्य को उपास्य ईश्वर मत जानो इसी वेद वेद मंत्र में बतलाया गया वेन तत्पश्यन वेने का अर्थ है विद्वान विद्वान ईश्वर को देखता है विद्वान शब्द से पढ़े लिखे लोगों का भी ग्रहण होता है शब्द शास्त्र को पढ़ने पर भी व्यक्ति वास्तविक विद्वान नहीं होता इसलिए विद्वान जो ईश्वर को देखता है वह केवल शब्द शास्त्र का विद्वान ईश्वर को नहीं देखता विद्या को पढ़ना शब्द प्रमाण के आधार पर पढ़ना ये अच्छी बात है इसका निषेध बिल्कुल नहीं है पहले व्यक्ति सुनता है या पढ़ता है यहां से ज्ञान का प्रारंभ होता है ऋषि ने लिखा कि विद्या दो प्रकार से आती है एक प्रकार है कि पुस्तक के रूप में योग दर्शन को आप पढ़ते हैं और आचार्य उसको पढ़ाते हैं इसलिए विद्या आती है दूसरी रीति है मौखिक रूप से आचार्य उपदेश देते हैं मौखिक रूप से बताते हैं पुस्तक नहीं लेते यह श्रवण के माध्यम से आती है पुस्तक को लेके विद्या पढ़ाई जाती है पूरे ग्रंथ को पढ़ाते हैं मौखिक रूप से विद्या पढ़ाई जाती है उपदेश के रूप में पढ़ाते हैं विद्या प्राप्ति का एक प्रथम कार्य है पहला कार्य इसको जो व्यक्ति ठीक नहीं करता उसको विद्या नहीं आती व्यवहार भानु में लिखा गया कि आत्मा मन के साथ मन पढ़ाने वाले आचार्य के शब्द और संबंध के साथ आत्मा मन के साथ मन कान के साथ कान शब्दार्थ संबंध के साथ ये सुनने पढ़ने की रीति है कोई अनुभव करके देख सकता है आप ध्यान से सुनिए सब समझ में आएगा कठिन से कठिन बात भी समझ में आएगी और ध्यान से न सुनिए सरल से सरल बात भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी इसके पश्चात मनन करना उसको दोहराना आवृत्ति करना फिर शंकाएं उठती कल किसी ने सुना ज्ञानेश्वर जी ने बात कही कि जीवात्मा कहां रहता है उन्होंने कहा जीवात्मा वहां रहता है किसी ने शंका की कि जी उन्होंने तो ये कहा था यहां रहता है मैंने कहा नहीं ये कहा होगा नहीं अब ये क्या है ये मनन के पीछे दोबारा जब दोहराता है तो शंकाएं उभरती है उस स्थल पर उनको फिर पूछा जाता है शेर जब शंकाएं भी दूर हो जाती शेर क्या करता है वो ध्यान अवस्थित होता है एकाग्र चित्त करता है और वो अंतिम निर्णय सार निकालना चाहता है वो निर्णय करता है कि जो मैंने सुना और उसका विचार किया वो शत प्रतिशत ठीक है या नहीं और शत प्रतिशत ठीक का निर्णय होने पर परिणाम वो निर्णय उसके आचरण के कराने में समर्थ होता है जो व्यक्ति निधि ध्यासन नहीं करते वो श्रवण करने पर भी मनन करने पर भी आचरणशील नहीं होते कभी देख लेना आपको क्या समझ में आया श्रवण करने पर भी मनन करने पर भी पढ़ाने पर भी जो एकाग्र होकर के अंतिम निर्णय नहीं करते कि यही सत्य है यही छोड़ने योग्य है वो व्यक्ति आचरण में उसको नहीं जाते और कुछ लाएंगे तो थोड़े जाएंगे अब इतना होने पर तीन कार्य करने पर चौथी बात साक्षात्कार की है तो जो व्यक्ति साक्षात्कार तक पहुंचता है अर्थात उस चीज को व्यवहारिक रूप देने की स्थिति में जाता है उसके लिए कहा जाएगा वेन सत्कर्ष जिसका पठन श्रवण मनन निर्णय करनी कथनी एकता माई ऐसा विद्वान ईश्वर को देखता है व्यास वाक्य में एक अच्छे विद्वान की जो है चर्चा आई उसका भाव सुनिए अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान अक्षी कहते नेत्र को नेत्र रूपी पात्र के समान विद्वान होता है ये परिभाषा बनाई दृष्टांत है कि आंख में एक छोटा सा बाल ऊन का बाल लग जाए तो अश्रु धारा बहती है आप देखेंगे और एडी में लग जाए तो एडी में लग जाए तो कंबल घिसता रहे थे सारी रात तो एडी में ऊन के बाल घिसाओ कंबल घिसता रहे कोई दर्द नहीं होता है क्या दर्द आप जूता घिसाते हैं <laughs> दर्द होता है क्या एडी में एडी में दर्द नहीं होता उससे और बाल का तो पता ही क्या चलना है और आंख में तो एक बार लगने पर बहुत दर्द होता है अश्रुधारा बहती है बड़ा कष्ट होता है एक दृष्टांत दिया आंख में जैसे बाल इतना दुखदायक है विद्वान के हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष इतना दुखदायक वो सहन नहीं करता रात्रि को सोते समय वो लेटता लेटता दूसरे के बस्तर पर चला जाता है जैसे कई लोग देखने के विचार लुढ़कते डिगते दूसरे के वस्त्र में चले जाते जी उसने अनुभव किया कि भाई आप रात्रि में मेरे वस्त्र पर आ गए थे मेरी नींद खुल गई अच्छा वो कहता मैं यहां नहीं सोऊंगा मैं तो बाहर सोऊंगा उसके मन में ये प्रभाव पड़ेगा मेरे कारण से ही व्यक्ति दुखी है वो सोना छोड़ देता है दूर चला जाएगा ये केवल एक उदाहरण मात्र है विद्वत्ता जिस व्यक्ति में आती है वास्तव में जो ईश्वर को देखने की उसका हृदय इतना कोमल इतना पवित्र होता है उसकी भावनाओं को आप देखें तो उसकी भावना यहां तक बढ़ जाती है कि अपने शत्रु को भी वो सुख देना चाहता है यहां तक भावना बढ़ती है मिथ्या आरोप लगाता है झूठे आरोप लगाता है कि उपकार को नहीं मानता उसका शत्रु बन बैठा वो तो भी उसके मानसिक स्तर पर उसको दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं होती अक्षय पात्र कल्पो ही विद्वान है विद्वान की परिभाषा ये ब्रह्मचारी अध्यापक अनुभव करेंगे इनको इनको जल्दी अनुभव होगा आप तो देर न समझ पाएंगे क्या जी क्यों जी अरे जी ठीक है ना यदि ये समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं अत्यंत इच्छुक व्यक्ति सत्यग्रहाई व्यक्ति ही इसको समझ सकता है दूसरा नहीं समझ सकता जो व्यक्ति देखता है मैं अंतिम सत्य पर पहुंचना चाहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए बस वो व्यक्ति ऐसा विद्वान बन पाता है दूसरा व्यक्ति ऐसा विद्वान कभी नहीं बनता जिसको और कुछ चाहिए वो ऐसा विद्वान कभी नहीं बनता बनता ही तो लंबा मंत्र अब बेन सत पश्चिम निहितम गो असत अब इसको सुनते रहो कई घंटे तक कई दिनों तक इसमें सारे मंत्र में ये बात कही है विद्वान परमात्मा को गुहा में बुद्धि में प्रकृति में जीव गुहा का अर्थ है प्रकृति गंभीर सूक्ष्म स्थल जीवात्मा अंतःकरण ये सब गुहा नाम से बोले बुद्धि वे न नीतम गुहा सत यत्र ये सारा विश्व जिसमें घोंसले की तरह बन जाता है घोसला देखा अर्थात परमाणुओं को पकड़ के प्रकृति को पकड़ के परमात्मा ही देती की तरह इसको संसार को बना देता है सा बन जाता है संसार तो घोंसले की तरह है परमात्मा के अंदर इतना देखिए बड़े पेड़ पर घोंसला कलकत्ता का बड़ देखा कभी आपने तगड़े से तगड़ा व्यक्ति ढेला फेंके यहां से उसके पार नहीं फेंक सकता था आपका मुझे पता नहीं टूट फूट गया क्या समझे आप बड़ इतना बड़ा लंबा चौड़ा वो लंबी चर्चा है तो उस पर यदि चिड़िया घुसला बनाएगी तो कितना बड़ा दिखाई देगा ये परमात्मा केंद्रीय संसार तो चिड़िया के घोंसले की तरह है क्या समझते हो आप बम्बी की कोठी को बहुत लंबा समझते हो <laughs> कूप की तरह कूप को जानते हो एक खटा घड़ी जाती है सुनाई जाती है वो एक कुएं का मेंढक जो था वो सदा कुएं में पैदा हुआ होगा कुएं में रहता था ये अपनी कुएं और एक बाहर तालाब का लंबी झील का मंडक कूद काद के वर्षा होती है बाढ़ आती है तो कुएं में जा गिरा वो है जी और बातचीत होने लगी मेंढकों की काल्पनिक कथा है कहेंगे वही वो मेंढक कहने लगा तुम्हारा ये तालाब क्या है मैं तो एक बार में उछलता हूं तो दीवार के जाके टकराता हूं मिंड की उछल देखिए ना है मिंड की आपने जंपिंग तो वो कहते जंप करता है तो वो वो कुएं वाला भी देखा तू पागल है कहीं का ऐसा इससे बड़ा तालाब धरती वह कहीं उसके लिए यही है ये कोठी वाले को कोठी दिखती है झोपड़ी वाले को झोपड़ी दिखती है बस इसमें सारा संसार आ गया आजीवन विकास में क्या करेंगे जाकर के हमारी कोठी बहुत लंबी जोड़ी है तो ये संसार फिर काटित तस्मिन संत संच विदेशी सर्वम ध्यान देना जिसका निर्माण होता है तो ये संचय के रूप में आगे बन के खड़ा होता बीच है उत्पत्ति में उससे परमात्मा से अलग बनता है और संचयती का अर्थ परमात्मा में लीन हो जाता है और विचैती का अर्थ ये फिर परमात्मा इसको बना देता है ध्यान देना जिस क्रिया को हम जान ले रहे कि ये संसार बनता भी ईश्वरमय ही है और बिगड़ता भी ईश्वरमय ही है तो तीनों कालों में ईश्वर के बाहर नहीं गए हम या गए या जा सकते हैं अब कितनी दौड़ लगाए कोई व्यक्ति कितनी कल्पना करे वैज्ञानिक बन जाए पर परमात्मा से बाहर नहीं जा सकता परिणाम ये निकलेगा व्यापक व्याप्य का विज्ञान हो जाएगा ईश्वर व्यापक है और हमें व्याप्ति तो मन कहां जाएगा जा ही नहीं सकता कहां टिकेगा तो कहीं <laughs> वो कहां टिकेगा बताओ ईश्वर में ही टिकेगा नहीं वो जाएगा कहां जी वो मकान में कोई व्यक्ति घूमने लगे पार जा नहीं सकता इस कोने पर रहेगा या इस पर रहेगा या इस रहेगा तो मकान में ही तो मकान में उसको लगना ही पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति ये सोचता है ईश्वर व्यापक है और जीवात्मा संसार व्याप्ति है तो मन की चंचलता मन की दौड़ धूप सब समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को अंत में रुकना पड़ता है और कोई राजी खुशी से न परमात्मा के अर्पण हो तो विवस्था से अर्पण होना पड़ता है छोटा बच्चा उठ पठान काम करके भाग जाता कई बार देखा ना तोड़ फोड़ करके और रोटी खाने कहा आएगा <laughs> वो तोड़ फोड़ करके बच्चा इधर उधर भागता रात को भूख लगेगी तो बार दिन में तो भाग गया मां से बच गया गिलास तोड़ दिया ये कर दिया और तोड़ फोड़ करके गया पिटाई होगी अब वो देखता है जा नहीं सकता तो घेर गोट की कहां आना पड़ेगा मां जहां रहती है उसी घर में आना पड़ेगा रोटी तो वहीं खानी है अब ये गाली दी किसी से झगड़ के आ गया किसी की चीज उठा ली ये जाएगा कहा वो तो परमात्मा के काम नहीं तो आएगा वह राजी खुशी से आ जाओ अपने आप श्रद्धा से आ जाओ या डर से आ जाओ व्यवस्था से कौन सा अच्छा है श्रद्धा और प्रेम से आना तो ठीक और गधे की तरह डंडा खा के आना अगर अच्छा, कई बार डंडे खा के भी नहीं आते लोग ये तो दुनिया होती है कुछ पिटाई हुई कारागार में रहा आते ही फिर चोरी फिर पिटाई फिर कारागार फिर चोरी फिर पिटाई फिर कारागार फिर चोरी <laughs> वो जीवन भर पिटकारा जाकर डेगी तरह वो नहीं मानता तीसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं कम से कम डंडा लगने पर तो, तो ये दूसरा काम तो कर लोगे ना आप पहला ही ना हो तो कम से कम दूसरा तो जरूर कर लेना विवश होकर परमात्मा के अर्पण तो जरूर हो जाना इससे भी कल्याण हो जाएगा तो इसलिए अब इसको यहीं समाप्त करते हैं और ध्यान इस बात का रखा जाए अब अब आपकी मौखिक परीक्षा उपलब्धियां कौन कौन व्यक्ति इतने दिनों में कितना सीख पाया जान पाया समझ पाया आप तैयारी करेंगे संस्कार बनेंगे आपका पाठ याद होगा ये संस्कार बन जाएंगे आगे दोहराएंगे लिखेंगे बहुत सी उपलब्धियां सुनाने से आपको जो लाभ होंगे वो बहुत अधिक नहीं सुनाओगे तो आपको कोई याद नहीं आपको कोई पता नहीं आपके कोई संस्कार नहीं बनेंगे परिणाम उठते और दूसरी ओर देखिए हम क्या सोचते हैं ये व्यक्ति हरियाणा से दिल्ली से राजस्थान से कर्नाटक से आया और इसने बड़ा अच्छा सुना मनन किया उपलब्धियां की योग के विषय में दर्शन के विषय में सिद्धांतों के विषय में यम नियम के विषय में प्राणायाम के विषय में आसनों के इतनी चीजें सीख गया बड़ा उत्साह होता है सिखाने वालों को अधिकारी प्रबंध करते उनको बड़ा आनंद आता है कि यहां आकर के लोग इतना लाभ उठाते पता चलता है जो सुनाते हैं तो पता चलता है ये समाज का प्रभाव है और परिवार में जाएंगे पड़ोस में जाएंगे नगर में जाएंगे ना क्या सीख क्या है तो उन्होंने बताया था कि भगवान का ध्यान करना चाहिए और वो जो आकाश को देखने लगेगा तो ये सिखाने वाली पागल है सीखने वाले भी अरे पागल है पागली तो संज्ञा मिलेगी हम भी पागल और आप भी पागल और आपको भेजने वाली भी पागल है जी और मखौल उड़ाते हैं लोग देखो ये होगी वहां ये मखौल उठाएंगे आपका ये योगी बन के आया आता जाता कुछ नहीं एक हजार रुपया खर्च करके आ गया ये ठोकरे लगेगी जब जब पता चलेगा पिटाई से दिमाग ठिकान होता कई लोगों का अच्छा पिटाई से भी ठीक हो जाएगा तीसरे नंबर की बात में मत जाए पिटाई वाला भी अच्छा ये नहीं मानने वाले हैं एक व्यक्ति पिटता रहता और खेल एक कथा सुनाते दो व्यक्तियों के झगड़े हो गए एक बहुत तगड़ा था एक था कमजोर जी तो उसकी पिटाई कर दी कमजोर की और उसने कहा नहीं मैं तुझे मार के छोड़ूंगा फिर लड़ाई शुरू उसको फिर पिटाई की नहीं मैं तुझे खत्म करूंगा उसको फिर पिटाई की देखा नहीं मैं तुझे मारू प्रत्येक घटना में पिटाई हो रही है फिर कहता तो मैं तुझे खत्म करूंगा तू क्या खत्म करेगा आए नंबर पर पिट रहे आए तो, आए नंबर पर तू पिटाई खा रहा खाम का दूसरी तीसरी चौथी पिटाई से बच जाएगा चुप ही रह जा अब तो चुप रहा ये माताएं दूर बैठी है थोड़ी सी रात्रि को वो पास में बैठती है उनको जी कहता हूं अब आपको जी कहता हूं ये पिट पैट करके आती है यहां अब ये पिट करके ही मान लें तब भी अच्छा है जी मेरी पिटाई होती है इनकी बच्चों को खिलाना पिलाना जीवन खपा देती है उनका फिर विवाह करना फिर घर बना के दे देना चलिए चले यहाँ बानप्रथ प्रताश्रम में आइए यहाँ योगी नहीं बने अब पिट पिट करके यहाँ आइए ये स्वामी जी की बात है योग सीखेंगे तो पिट के ही मान लो अब मसमसना घर में कम से कम पिटाई होने पर तो मान लो और गृहस्थी आप भी मत जाना आइए घर में अब जब पचास साठ वर्ष के हो गए यहां आने के लिए तैयार ही ना काम करते ना देश का ना समाज का वहीं पिटते रहते और वहीं पर घर पर ही बैठे तो अब आप तैयारी करो ये हो सकता है कि आप तैयारी के लिए समय मांगे भाई आज तैयारी चार बजे में रोचक बना रहा हूं पूरा रोचक बनाने से याद रहता ना भाइयों मैं आपके सामने योग की बात सुनाना चाहता हूँ वो, जो है वो कांपता जाएगा ये कहता जाएगा कांपता जाएगा पसीना आ जाएगा वो दो मिनट सुना नहीं सकता एक मेरे रोचक घटना हुआ जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे हमें बोलना सिखाते थे हम भी खूब डरते थे आप मत सोचना जब बोलते थे तो वो ये ये आपत्ति कम दूर होगी बोलने वाली ये घटना कब निकले हमारे जीवन से हमारे साथ एक दूसरा विद्यार्थी हमारा नंबर आता था पंद्रह पंद्रह दिन में अमावस्या पूर्णिमा को दिन सभा होती थी तो वो एक दिन कहने लगा भाई वेदव्रत जी इसका प्रबंधक थे ना वेदव्रत जी भाई वेदव्रत जी मेरा जो भाषण रखो ना मेरा बोलने का जब कराची की ठंड पड़ रही हो ना सर्दी जब रखना मेरा गर्मी मत रखा तो क्यों भाई लाभ मुझे ये है कि मुझे बोलता हूं तो पसीना पसीना हो जाता हूं जाने में मेरा सारा ज्यादा दूर हो जाता है इसलिए उस समय मेरा प्रवचन का वर्ग क्या वस्तु तो देखते पसीने पसीना हो जाता है तो ये आपको बड़ी उपलब्धि होगी अपनी सच्चाई को व्यक्त कर देना और दूसरे के झूठ को खंडित कर देना ये व्यक्ति का काम है तेजस्वी ना अधीतमस्तु ये पाठ करते हैं पांच बातें हैं ना उसमें एक है तेजस्वी ना अधीतमस्तु हमारा पढ़ा लिखा तेजस्वी होना चाहिए बोलने में पढ़ाने में लिखने में आचरण में वो आना चाहिए नहीं तो क्या पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं तो आप तैयारी करो बोलने की उपलब्धि आपको और जो याद करता है परीक्षा के लिए उसके संस्कार बनते हैं अंदर संस्कार बन जाते हैं और वो संस्कार फिर उस विद्या को दूर रहने में सहयोगी है संस्कार नहीं बनते तो व्यक्ति शीघ्र ही भूल भाग जाता है तो ये अनेक उपलब्धियां हैं मौखिक रूप से आपकी उपलब्धियों को सुनाने में आप तैयार करें और इसकी पद्धतियां हैं जो सीख भी दें आप थोड़ा सा कई बार हम कंठस्थ नहीं करते तो कुछ एक दो तीन चार ऐसे लिख लेते हैं जो व्यक्ति मौखिक नहीं सुना सकते वो अपना पढ़ के सुनाना भी एक काम है प्राय हम तो विदेश में तो ऐसा देखते हैं वो लिख करके ही बोलते हैं प्राय लिख करके ही भाषण देते हैं वो वो ऐसे अपना लिखे लिखा ही भाषण को बोलते हैं वो तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं पत्र में लिखिए और उसको सुनाइए तो सुविधा को देखते हुए जैसे आज के पाठ हैं उनको चलाते हुए हम तैयारी कर सके तो ऐसा करिए नहीं तो पाठों को कम किया जा सकता है और तैयारी में अधिक समय लगा सकते हैं कौन सा ठीक रहेगा हाँ जी लग गई तो वो सबको बुरा लगेगा नहीं समझा आप अपनी उपलब्धियां सुना रहे हैं आपने एक उपलब्धि सुनाई मैंने अनुभव किया कि मन जड़ है मैं इसको चेतन मानता था और कई बार ऐसी घटनाएं हुई और अब मैं जब विषयों की ओर भूल से भेज देता हूं तो जड़ समझ के मैं इसको रोक लेता हूं ये उपलब्धि मुझे हो गई बात तो सुना दी उपलब्धि तो इतनी है ऐसी उपलब्धि मुझे हुई एक एक ऐसे ही सभी उपलब्धियां हुई और वो व्यक्ति जब ये विषय को नहीं समझता विषय से बाहर जाएगा तो क्या करेगा मन जड़े और ये जो मन जो है ये तीन तत्वों से बना है सत्वर तम से मन के बिना इंद्रिया कुछ काम नहीं कर सकती मन के बिना जीवात्मा विचार भी नहीं सकता स्वप्नावस्था में ये संकल्प करने से नहीं मानता स्वप्नावस्था में भी ये संकल्प इतना चंचल है अब वो इसको व्याख्यान के रूप में ले गया इसी बात को तो पकड़ से बात चला गया वो अच्छा नहीं लगेगा इसको तो हम सुन ही रहे हैं पढ़ ही रहे हैं ये अब आप सुनाएंगे तो इसका कोई प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा बुरा पड़ेगा तो अनुभूति उपलब्धि को सुनाने की पद्धति है तो इसी रूप में विचार करो इस पद्धति को प्रयोग में लाने से परिणाम यह निकलेगा आपको बोलना आएगा सभा में बैठना आएगा बात करनी आएंगी बात सुननी आएंगी और यदि विकास नहीं करना हो तो 10 वर्ष तक आइए सुनिए लाभ होगा आपको बोलना नहीं आएगा आपको प्रश्न उत्तर नहीं करने आएंगे आपको लेख भी नहीं लिखना आएगा इतने आप विकसित हो ही नहीं सकते इसलिए विकास करना हो तो ये सारी बातें लेके चलो और डरो मत और कई लोगों को तो अभी पसीना जा आ रहा होगा कि भाई कई माताएं तो बेचारी वाकई थी जी हमारा नाम मत लेना हमारी तो छोड़ ही दो अच्छा ये डर कहां तक डरते रहोगे ये बताओ कहां तक डरोगे बताओ जी ये तो ऐसी कथा है कबूतर जोर जोर से आंख मीचता है पर बिल्ली में बैठी है वो क्या सोचता है जोर से आंख बंद करने से बिल्ली मुझे नहीं देखती पर बिल्ली जपट के उधेड़ के खा जाती है कबूतर को देखा आपने ये बिल्कुल ऐसा ही होता है ये भय जो है ये तो बिल्ली है ये जो दोष है ये सारे के सारे ऐसे शत्रु होते हम जो सत्य बात है उससे डरे क्यों ये डरना जो है महान दोष है कल्पना करो भगवान हमको दंड देता वहां यदि कोई डरे तो कुछ अच्छा कहेंगे भाई भगवान से डर के बुराई से बच गया यहां वहां तो ठीक है भाई डर जाओ भी अच्छी बात है बुराई से तो बच गए पर ये सच्चाई से कहने से डरना ये तो बिल्ली है और आप हम क्या है कबूतर कबूतरों का दृष्टांत ऐसा है कि इतनी कायर जाती होती है ये कबूतर की पूछो मत से कामी क्रोधी होते हैं ये तो डरने वाले की हालत मैं दिल्ली में रहता हूं जब दिल्ली में रहता हूं तो छत पर बैठे हुए सैकड़ों कबूतर ध्यान देना सैकड़ों सैकड़ों का मतलब है कई सौ और वही अंडे दे देते हैं छत पर ऐसे ही ऐसे उठ देते अरे पतला दुबला कौआ आता है और ये सैकड़े वहां पर लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं यहां पर दो दो तीन तीन कई लड़ाइयां होती है झगड़े में कबूतरों आप देख रहे हैं और कौआ आ गया और वो उसके अंडे खाने और ये सारे के सारे भगत की तरह बुगला भगत की तरह ऐसे बैठे मोटे ताजे यूं करने के लिए भी तैयार नहीं उस कौए को हटा वो अंडे खा जाएगा और बच्चे खा जाएगा और ये सारे के सारे चुपचाप बैठ गए ये है कबूतर भारत के लोग तो कबूतर के जैसे बने या नहीं बने और वो गया कबूतर खा, खा के गया अंडे वही लड़ाई आपस में हम आपस में तो झगड़ लेते हैं दूसरा और ये काम करो उसके अंदर के शत्रु से आप ये मन में बना लो भय लगना जो है भय जो है कि दोष है हम अच्छे काम के लिए नींद रहे बस और यदि परमात्मा की उपासना करनी हो तो क्या बनना पड़ेगा आपको निर्भीक बनना पड़ेगा भयभीत व्यक्ति परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता तो ये डरने की बात छोड़ दो ये बुरे संस्कार होते हैं जो सत्य आसन से हमको रोकते हैं उनसे टकराना पड़ेगा टकराओ तो ये इसलिए समय आज अधिक लिया गया है कि ये बातें आवश्यक हैं आपने करनी है इसकी तैयारी करो ठीक हो आप में युवक भी हैं कितने माताएं भी हैं सब है आप अपने स्तर पर पूरा जोर लगाओ तैयारी करो गृहस्थी हो वानपस्थ हो ब्रह्मचारी हो संन्यासी कोई भी हो ये जो ढर्रा चल रहा है जो आज ये कबूतर वाला और बिल्ली वाला ये सारे भारत के लोग कबूतर और ये जो है विरोधी जो है वो बिल्ली बने हुए हैं आप देख लो ये बाहर के शत्रु हैं ये अंदर के शत्रु हैं अज्ञान काम क्रोध तो लोग वो अंदर के शत्रु हैं और ये जो है विरोधी देश के विरोधी धर्म के विरोधी वेद के विरोधी ये सारे के सारे बाहर के शत्रु हैं ये दिल्ली है अब ये भी कम नहीं है अब ये दोनों मारेंगे एक ही निर्णय कर लो या तो हम मरे या ये मरे अब बताओ कौन सा अच्छा है <laughs> बोलो जी वो कहता जी हम ही मर लेंगे <laughs> हम हमारे बस की बात नहीं इतना परिश्रम करें हम मर लेंगे हम मर लेंगे ये भीरू लोग काय लोग कहते हम मर लेंगे हम मारेंगे भाई ये नहीं हो सकता कि वो भी न मरे और आप जीवित रह जाए या तो आपको मारेंगे ये शत्रु बाहर के और भीतर के या आप इन दोनों को मारोगे अब बताओ कौन सा अच्छा है पुरुषार्थी व्यक्ति त्यागी व्यक्ति ईश्वर का उपासक व्यक्ति दोनों को मारेगा और स्वयं दिएगा किरण तो विश्व आर्य आइए बनाओ ईश्वर ने तो यहां तक कह दिया भाव सुनाता हूं मंत्र का बिल्कुल साफ है मैं इस भूमि को आर्यों के लिए देता हूं ये दिया सार सारी भूमि अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें किसके लिए दिए हैं पाठ कर दू थोड़ा सा अहम ददाम हम भूमि में अददाम आय मैंने भूमि को आर्यों के लिए दिया है और ये लोग कहते हैं ये ब्रह्मचारी जो है अंगूर खाते ब्रह्मचारी बादाम खाते आर्यवन विकास आश्चर्य की बात है ब्रह्मचारी बादाम खाते <laughs> ये ये फल खाते घी खाते अब भले व्यक्ति जो दुष्ट लोग हैं वो तो मजे रहे खूब खाते करोड़ों में घूमते और इनके बादाम खाने के दुख है तुमको इनका प्रचार देखो प्रचार देखो ये ये तो बादाम खाते ये तो घी खाते भले बच्चे और कंकर खाए ये ये ये ये भगवान ने हमारे लिए बनाए तुम्हारे लिए जो नाच गाने वाले शराब पी दोगे वो तो अंगूर खाए कारों में बैठे विमान में घूमे और वो ठाट से रहे हमारे पास में एक टूटी साइकिल मिलेगी मिलेगी तो नहीं कुछ भी नहीं अब ये खा ले तो, तो भी इनको गले से नीचे नहीं उतरने देते बोले पहले हम यहाँ आए फिर मुझे इतना दूध पीते हमने कहा हाँ इतना पिएंगे <laughs> और इतना खाएंगे आपको देना होता जो नहीं मदद हो बार वाले से योगी करते कई बार ऐंठ दिखाते हैं हम सहायता करते हैं मैंने कहा नहीं आप देना चाहे तो दो हम तो ऐसे ही खाएंगे रजे खिलाएंगे <laughs> तो ये मूर्खों ने उल्टी भी बातें कर रखी तो आर्यो का है सब कुछ परमात्मा के पुत्र वो क्या कहा निरुष्कार ने आर्य ईश्वर पुत्र क्या कहा निरुपकार कारण कहा है और ये कौन है ईश्वर का पुत्र और पुत्र कौन होता है जो पिता की रक्षा करता है आज्ञा पालन करता है वो पुत्र होता है तो हमारी ये पुत्र जब बनेंगे जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो कुछ करके दिखाना बस अपने जीवन में समाज में विश्व में अब ऐसे थोड़े जीते हैं आप पता नहीं इतने लोग मैं अकेला सोचता हूं मैं इतना सोचता हूं कि कुछ भी नहीं सोचते आग इकट्ठे होने चले गए पता ही नहीं कौन कहां चला गया फिर आया और तीसरी बार आने का कौन है आप तो आया था पहले आया था किया तो कुछ नहीं तुझे तो पता कैसे चले तुम आया था एक बार साधना में भाग लिया दूसरी बार लिया तीसरी बार लिया उसका नाम याद नहीं क्यों नहीं मेरा मतलब है वो कुछ जो व्यक्ति तेजस्वीता दिखाता वो याद रहता भाई वो अड़चन बता रहा वो वहां ये कर रहा मतलब मेरा मतलब है कि ऐसे अपने जीवन में अपना जीवन और फिर दूसरे के लिए जो विशेष कार्य करे जिसे पता चले कि भाई हाँ ये योगाभ्यास करने वाला है ये वेद का प्रचार करने वाला है अच्छा चलो कई लोग वेद का प्रचार नहीं कर सकते कई लोग जो हैं वो बढ़ा नहीं सकते कम से कम बूढ़े व्यक्ति हैं वो लखपति हैं वो कैसे दिखते हैं वो दान से दिखते हैं दिखते हैं नहीं दिखते वो मैंने गुरुकुल देखा पोरबंदर का पोरबंदर का गुरुकुल जो है कन्याओं का कितनी संपत्ति है आजकल की वो मैंने सुना उनका नाम था काली भाई क्या काली मैंने सुना था उस समय उस व्यक्ति ने कुछ जैसा सुना याद है कि पचास लाख पचास लाख या कितना रुपया उस समय दिया था जो आज कितने करोड़ होगा उसका उस व्यक्ति ने आज वो बिल्कुल धनादि की संपत्ति से आधुनिक है कितना उस स्तर पर अर्थात वो व्यक्ति उसी से तेजस्वी हुआ उसके पास में धन है उसके पास में बल है वो उससे तेजस्वी होता उसके ऊपर वो विशेष क्षत्रिय का बल है ब्राह्मण का दूसरे ढंग का बल है तो इसलिए हमको जैसी जैसी शक्ति हम रखते हैं वैसा वैसा करो अब घर में बैठे रहते आप तो ए, पता नहीं कैसा घर आपको वो ए, वो जो है इतना मोह हो गया घर के साथ में मोह से इधर ही नहीं होना चाह रहे वो घर से बाहर नहीं जाना चाहता ये सारे के सारे दोष हैं ये शरीर है ये परिवार है ये धन संपत्ति है इतनी देर इंदिरा गांधी इतनी देर जवाहरलाल नेहरू इतनी देर लाल बहादुर शास्त्री तो इतनी देर और हम भी इतनी देर अब जाने वाले हो तैयारी कर लो क्यों खाम का इतना झंझट कर रहे पर जाने वाले का ये अर्थ मत लो देखो जी जाने वाले तो है ही अब करना क्या है अब भोजन की गड्ढी लगी भाई खीर भी बनी है भाई जाने वाले तो है ही क्या खाना है तो ये उल्टा विचार नहीं करना वो ये सोचता है अब पता नहीं कौन सा मिनट है और हाथ हो सकता हम पचास वर्ष जियेंगे पर शरीर का कोई विश्वास नहीं अच्छे काम कर लो एक व्यक्ति है वो नोटों को ले रहेंगे खींचते रहेंगे मसलते रहेंगे फट जाएगा जुटे देने के लिए तैयार धन जो है कमाएंगे इकट्ठा करेंगे ना खाएंगे और न दूसरे को देंगे और मरते समय एक व्यक्ति कई लाखों का स्वामी था अच्छा काम भी करते थे मैंने कहा अब आपका शरीर बड़ा हो गया इतने लाख रुपए आपके पास में है गुरुकुल के लिए दे दो ना दो तीन लाख मुझसे चलेगा गुरुकुल हाँ मैं विचार करूंगा हाँ मैं विचार करूंगा हाँ मैं विचार करूंगा वो चलते चलते चलते चलते और वर्ष एक दो वर्ष वो बेचारा ऐसा बन गया वो अच्छा ही नहीं थी और उसकी बस की बात नहीं रही मौन हो गया बोल ही नहीं सका न लग सका कि किसको क्या देना आपकी भी ये आदत होने वाली है ध्यान देना हाँ पहले दिन लिख लिखवा दे जो करना हो पहले दिन नीचे करना भाई मेरा धन तो संपत्ति इसमें खर्च करना मैं मर जाऊं तो तो इसलिए ये जो काम है हमारा है परमात्मा की संपत्ति परमात्मा की विद्या परमात्मा का बल अपने लिए और औरों के लिए इसके मालिक बन के मत बैठो तो इसको दूसरे को समय लगाओ अब आज का फिर आज का कार्यक्रम है आज इस समय ज्ञान के लिया गया